उच्चारण करेंगे ओ जिज्ञासा समाधान में आज का प्रश्न है अविद्या के बारे में आध्यात्मिक क्षेत्र में अविद्या शब्द हम बहुत सुनते रहते हैं बोलते रहते हैं अविद्या है क्या चीज तो प्रश्न को ही मैं लेता हूं प्रश्न है अविद्या भावात्मक है अथवा अभावात्मक है भावात्मक का मतलब है उसका अस्तित्व होना किसी वस्तु का होना ये उसकी भावात्मक भावात्मकता को बताता है और किसी वस्तु का न होना ये उसकी अभावात्मकता को बताता है तो ये अविद्या भावात्मक है या अभाव अभावात्मक है दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये अविद्या सत है या असत है सत मतलब जिसकी सत्ता है विद्यमान है और असत जिसकी सत्ता नहीं है तो ये अविद्या जो बंधन का कारण है आत्मा के बंधन का कारण अविद्या को माना जाए ज्ञान से मुक्ति होती है और अविद्या से बंधन होता है तो ये जो हमारा जन्म मरण चल रहा है इसमें अविद्या कारण है सभी शास्त्र इस बात को बोलते हैं तो ये अविद्या सत है या असत है भावात्मक है या अभावात्मक है ये प्रश्न तो अविद्या दो तरह की होती है अविद्या शब्द के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं एक अभावात्मक भी अर्थात किसी वस्तु के बारे में किसी गुण के बारे में किसी क्रिया के बारे में हमें बोध ही नहीं है उसके अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं है ये भी अविद्या कहलाती है विद्या यानी ज्ञान विद्या का न होना अविद्या ज्ञान का न होना ये अविद्या है जैसे कि किसी व्यक्ति को बच्चे को ये अभी पता नहीं है कि ईश्वर होता है या नहीं होता है उसको उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उस बच्चे का ईश्वर के बारे में अज्ञान है उसमें ईश्वर के बारे में अविद्या है कौन सी अविद्या अभावात्मक असत्य उसको कुछ भी नहीं पता है गांव में रहने वाले व्यक्ति को विदेशों में कैसे कैसे गाड़ियां चलती हैं बहुत तेज ये नहीं पता है तो उन गाड़ियों के बारे में उसका ज्ञान अभावात्मक है अविद्या अभावात्मक है उसे कुछ नहीं पता है तो एक तो अविद्या अभावात्मक होती है अविद्या का दूसरा अर्थ है विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान उल्टी विद्या अविद्या जैसे कि ईश्वर के बारे में किसी की मान्यता है ईश्वर एक देशी है एक स्थान पर रहता है वो ईश्वर को तो मानता है सृष्टि के रचयिता को मानता है लेकिन उसे किसी एक स्थान पर मानता है जबकि ईश्वर सर्वव्यापक है तो अब ईश्वर का एकदेशी होना एकदेशी ये ज्ञान होना उस व्यक्ति का अज्ञान है उस व्यक्ति की अविद्या है लेकिन ये कैसी अविद्या है मिथ्या ज्ञान उल्टे ज्ञान रूपी अविद्या है तो अविद्या के दोनों ही अर्थ होते हैं अभावात्मक भी और भावात्मक भी भावात्मक यानी मिथ्या ज्ञान तो इनके प्रश्न पर आते हैं फिर से उन्होंने पूछा अविद्या भावात्मक है अथवा अभावात्मक तो वैसे अविद्या दोनों तरह की होती है लेकिन आगे के प्रश्न से संबंधित एक ही उत्तर आएगा इनका कहना है यदि अभावात्मक है तो उससे जीव का बंधन कैसे हो सकता है जो है ही नहीं वो किसी को कैसे बांध सकती है रस्सी ही ना हो बांधने की कोई चीज ही ना हो तो व्यक्ति को कैसे बांधा जा सकता है यदि किसी से किसी का बंधन हो रहा है इसका मतलब है वो सत्तात्मक होनी चाहिए ये इनका प्रश्न है जिस अविद्या के कारण हमारा बंधन है यानी हम जन्म मरण में चलते रहते हैं वो अविद्या कौन सी है वो भावात्मक है या अभावात्मक है यदि वो अभावात्मक है तो उससे बंधन कैसे हो सकता है उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है आगे प्रश्न है यदि भावात्मक है तो उसका विनाश कैसे होगा यदि वो अविद्या भावात्मक है सत्ता है उसकी तो उसका विनाश कैसे होगा क्यों इसके पीछे क्या आधार है प्रश्नकर्ता के मन में कि जिसका भाव होता है उसका अभाव नहीं होता यही सिद्धांत है पीछे भाव का यानी विद्यमान का जिसकी सत्ता है उसका अभाव नहीं होता तो यदि वो अविद्या भावात्मक है तो फिर उसके विनाश की बात क्यों कही जाती है कि हमें अपनी अविद्या नष्ट करनी है अविद्या नष्ट करके हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो भावात्मक अविद्या का नाश नहीं हो सकता अभावात्मक से बंधन नहीं हो सकता और भावात्मक का नाश नहीं हो सकता ये दोनों तरफ से समस्या है तो आखिर ये अविद्या कौन सी है जो हमारे बंधन का कारण अब आगे ये उत्तर अभी और देखेंगे हम इनका प्रश्न और आगे देख लेते हैं लिखते हैं भावात्मक मानने पर यह शंका है यदि भावात्मक है तो कि वो द्रव्य है अथवा गुण है है क्या अगर भावात्मक है तो कैसे द्रव्य है जैसे कि जल एक द्रव्य है लकड़ी एक द्रव्य है पत्थर एक द्रव्य है तो द्रव्य है अथवा गुण है गुण का मतलब जैसे कि कोई मीठापन है ये एक गुण है चिकनापन है ये गुण है चेतनता ये एक गुण है ज्ञान ये एक गुण है तो यदि अज्ञान अविद्या भावात्मक है तो वो क्या है द्रव्य है या गुण है यदि द्रव्य है तो उस द्रव्य में कौन कौन से गुण है क्योंकि जितने द्रव्य होते हैं वो गुण वाले होते हैं यदि यदि करके प्रश्न कर रहे हैं यदि द्रव्य है तो उसमें उसके गुण क्या है और यदि गुण है तो वो किस द्रव्य में आश्रित है गुण द्रव्य में ही रहता है सिद्धांत है यदि अविद्या गुण है तो किस द्रव्य में रहती है उसका आश्रय क्या है कोई आकार प्रकार है तो कोई द्रव्य होगा उसका आकार प्रकार होता है रंग रूप है तो किसी द्रव्य का है तो यदि अविद्या भावात्मक है तो वो द्रव्य है या गुण है यदि द्रव्य है तो उसके गुण कौन से हैं और यदि वो गुण है तो किस द्रव्य में आश्रित है ये इनका प्रश्न इनकी बातें आगे देखेंगे पहले थोड़ा सा और इस बात को देखते हैं कि इनके पहले प्रश्न प्रश्न के प्रारंभ का कौन सी अविद्या हमारे बंधन का कारण है योग दर्शन में जहां अविद्या का स्वरूप बताया गया है जो कि बंधन का कारण है वहां इस मिथ्या ज्ञान को उल्टे ज्ञान को बंधन का कारण माना गया जो अनित्य है उसको नित्य मानना जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मान लेना जो दुख है उसको सुख मान लेना जो मैं नहीं है उसको मैं मान लेना यह विद्या का चार स्वरूप उसके चार उदाहरण स्वरूप वहां पर प्रदर्शित किए ये सारे के सारे मिथ्या ज्ञानात्मक है उल्टे ज्ञान है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मान करके कुछ भिन्न रूप में मान लेना उल्टा ज्ञान विपरीत ज्ञान विपर्य इसे मिथ्या ज्ञान का और इसी को अज्ञान कहा ये जो मिथ्या ज्ञान है ये भी ज्ञान ही है वैसे है तो ये भी ज्ञान ही किंतु उल्टा ज्ञान है विपरीत ज्ञान है और जब ये ज्ञान है उल्टा ज्ञान है तो ये भावात्मक होगा या अभावात्मक भावात्मक होगा उसकी विद्यमानता है ज्ञान गुण है या द्रव्य है ज्ञान स्पष्टी गुण है ज्ञान गुण है तो ये जो अविद्या है भावात्मक ये भी गुण है गुण है तो गुण का आश्रय कोई ना कोई होना चाहिए तो हमारा जो मन है अंतकरण बुद्धि ये उस मिथ्या ज्ञान का आश्रय है ज्ञान का आश्रय ज्ञान कहा रहता है अब ये विचारणीय बिंदु रहता है कई बार कि ज्ञान आत्मा में रहता है या बुद्धि में रहता है मन में रहता है यहां थोड़ा सा भेद करके हम देखें एक अनुभूति या अनुभव और दूसरा ज्ञान अनेक बार अनुभूति को भी ज्ञान के नाम से कह दिया जाता है लेकिन इनमें अंतर देखें ज्ञान को जानने वाला जानने वाला तो चेतन आत्मा ही है जड़ वस्तु जान नहीं सकती जानने वाला सदा चेतन ही होता है इसलिए आत्मा जानने वाला है ज्ञ है लेकिन जिसको वो जानता है जो ज्ञान है वो अंतकरण के अंदर संस्कार के रूप में रहता है तो इस दृष्टि से अविद्या का बोध किसी वस्तु को विपरीत जानना ये जानना को किसका होगा कौन करेगा आत्मा ही करेगा आज किसी वस्तु को हमने उल्टा जाना <clears throat> सांप को रस्सी जान लिया है सांप लेकिन रस्सी जाना है अब सो गए हम बिना डर के अब जब सुबह हुई उठेंगे अंधेरे में तब भी उसको क्या जानेंगे रस्सी ही तो जानेंगे ना क्योंकि रात को भी हमने उसको सर्प को रस्सी जाना था हम तो सो गए थे ये ज्ञान कहां रहा सुबह उठने पे ये अंतःकरण में रहता है हम सुबह उठते हैं तो फिर जानते हैं रात वाली स्मृति आ जाती है और वर्तमान में भी देख सकते हैं नहीं तो पिछली स्मृति आती है तो जो जानने वाला है वो तो चेतन ही होगा लेकिन यहां जिस स्तर पर मैं बात कर रहा हूं कि ये अविद्या रहती कहां पर है तो ये अंतःकरण में रहती है योग दर्शन जो कि इसका मुख्य प्रतिपाद्य ग्रंथ है मन अंतकरण अविद्या का उसका व्यास भाष्य वहां इसको स्पष्ट ही अंतकरण का चित्त का धर्म माना गया ये चित्त में रहता है अब इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखिए अविद्या के दो भेद कर लिए एक भावात्मक और एक अभावात्मक किसी वस्तु के बारे में अभावात्मक ज्ञान होना क्या मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता है रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं कांटे का ज्ञान नहीं है <clears throat> कांटा वहां है कांटे बिखरे पड़े हैं नंगे पांव जा रहे हैं तो कांटों के बारे में हमारा कैसा ज्ञान है अभावात्मक कांटों के बारे में हमारी अविद्या है हमें नहीं पता कि यहां कांटे हैं तो कांटे के बारे में हमारा ज्ञान अभावात्मक हुआ अब तो हम चलते जा रहे हैं और पैर रख दिया वहां पर और कांटा पैर में चुप गया कांटे पैर में चुभ गए एक तरफ हम कहेंगे कि अभावात्मक ज्ञान से हमें हानि हुई इसको यदि दूसरी दृष्टि से देखें कि जो व्यक्ति पैर रख रहा है जहां पर पैर रख रहा है वो क्या मान करके रख रहा है यहां कांटा नहीं है ये मान करके वो पैर रख रहा है पैर उसका अपना है उसको चल के जाना है पैर को रखना ही होगा कहीं ना कहीं और वो संतुष्टि से पैर रखता है जहां ठीक है वहीं रखता है नहीं तो नहीं रखता है अब उस जमीन के बारे में जहां कांटा था उसके बारे में इस चलने वाले का क्या ज्ञान है इस स्थान पर कांटा नहीं है ये भी अविद्या है ये भावात्मक अविद्या है या अभावात्मक अविद्या है भावात्मक ध्यान दो पहले मैंने बात रखी थी कि यहां कांटे के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है यह कांटा है कोई ज्ञान नहीं है उसको कांटे की उपस्थिति का ज्ञान नहीं है कांटे के बारे में ये उसका अभावात्मक ज्ञान हुआ अब उस स्थान के बारे में ज्ञान है उस स्थान के बारे में जहां वो पैर रख रहा है उस स्थान के बारे में कैसा ज्ञान है उसका मिथ्या ज्ञान है क्या मिथ्या ज्ञान है ये स्थान कंटक रहित है ये उसका उस स्थान के बारे में भावात्मक ज्ञान है अभावात्मक ज्ञान है भावात्मक अविद्या जो है ये है तो अविद्या ये भी लेकिन वो उस स्थान को निष्कंटक मान रहा है और इसलिए पैर रख रहा है वहां पर घटना एक ही है उसकी दो ढंग से व्याख्या की कांटे का अभावात्मक ज्ञान है उसको कांटे के बारे में अविद्या है अभावात्मक और उस स्थान के बारे में अविद्या है भावात्मक उल्टा ज्ञान हमारा जिस विषय में किसी भी विषय में अज्ञान जब होता है अभावात्मक ज्ञान होता है तो उससे जुड़ा हुआ मिथ्या ज्ञान उपलब्ध रहेगा वहां पर किसी न किसी ढंग से संसार के भोगों में दुख है संसार के भोगों में सांसारिक सुखों में दुख है इसे क्या कहेंगे अविद्या कहेंगे ऐसा जो मानता है ऐसा जो नहीं मानता वो अविद्या है सांसारिक सुखों में दुख है ये तो विद्या हुई सांसारिक सुखों में दुख नहीं है ये भी अविद्या है मिथ्या ज्ञान है ये भावात्मक हुआ या अभावात्मक हुआ दृष्टि भेद से यहां फिर दोनों तरह से देखिए दुख का अभाव हाँ, उसको ये पता ही नहीं है कि यहां दुख है उसे ये पता नहीं है कि यहां दुख है तो दुख के बारे में बस दुख के बारे में उसका अभावात्मक ज्ञान है लेकिन यदि उस भोग के बारे में विषय भोग के बारे में या सुख के बारे में सोचा जाएगा कि सुख में दुख नहीं है तो अब इसका ये उस सुख के बारे में विपरीत ज्ञान ये सुख कैसा है वो उसको शुद्ध सुख मान रहा है दुख रहित सुख मान रहा है ये उल्टा ज्ञान हो जाएगा ईश्वर के बारे में किसी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है इस तरह की कोई वस्तु होती है तो एक दृष्टि से हम क्या कहेंगे ये ईश्वर के बारे में उस व्यक्ति का अज्ञान है कौन सा अज्ञान है कौन सी अविद्या है भावात्मक अभावात्मक अभावात्मक मानेंगे जो ईश्वर को नहीं मानता है वो इस संसार के बारे में क्या विचार करेगा ये संसार कैसे बना वो क्या विचार करेगा अपने आप बना कहेगा या तो नहीं बना है ये कहेगा कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना वो इस संसार के बारे में क्या सोचेगा वो ईश्वर कर्म फल प्रदाता है जिसको शुद्ध ज्ञान है वो ठीक है जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या सोचेगा आखिर तो वो भी देखेगा कोई व्यक्ति किस परिवार में जन्म ले रहा है कोई किसी में जन्म ले रहा है किसी का कैसा शरीर है किसी की कैसी बुद्धि है किसी को कैसे माता पिता मिले किसी को विद्वान माता पिता मिले किसी को धनी माता पिता मिले किसी को निर्धन मिले किसी को अज्ञानी माता पिता मिले कहीं बचपन से संस्कार दिए जाते हैं कहीं संस्कार नहीं दिए जाते हैं कोई सोचता ही नहीं है उस बच्चे के बारे में उसको संस्कारित ही नहीं करता है ऐसा परिवार है अब इन भिन्नताओं के बारे में वो क्या सोचेगा क्या सोच सकता है क्या संभावना है ये अपने आप हो गए अथवा इसका कोई कारण नहीं है बिना कारण के बस ऐसे ही है अथवा और कुछ सोचेगा कुछ ना कुछ तो सोचेगा वो तो ईश्वर के बारे में यदि किसी का अभावात्मक ज्ञान है वो ईश्वर को मानता ही नहीं है तो इस सृष्टि के बारे में जब वो सोचेगा वो वैज्ञानिक वो बुद्धिमान व्यक्ति तो भिन्न ढंग से सोचेगा और ये उसका सृष्टि के बारे में मिथ्या ज्ञान होगा सृष्टि के बारे में उसकी अविद्या होगी कौन सी अविद्या होगी सृष्टि के बारे में ये सोचना कि ये अपने आप बन गई है ये कौन सी अविद्या होगी भावात्मक अविद्या होगी कारण क्या था वो ईश्वर को ही नहीं मानता ईश्वर को सृष्टि रचयिता ही नहीं मानता कोई मनुष्य क्या कहीं ऐसा मिल सकता है जिसमें बिल्कुल विद्या का अभाव कुछ भी नहीं जानता हो कोई मूर्छित हो वो एक अलग बात है ये तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ ना कुछ जानना सुनना समझना प्रारंभ कर देता है कुछ ना कुछ जानता है वो सही जानता है या गलत जानता है ये अलग बात है लेकिन जानता रहता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ये अभावात्मक अविद्या हो पूरी की पूरी नहीं मिलेगा एक एक अंश में अविद्या अभावात्मक ज्ञान मिलेगा कुछ चीजों को वो जानता है कुछ को नहीं जानता है जिसके बारे में वो नहीं जानता है तो उससे संबंधित दूसरी बातें गड़बड़ाएंगे जो कि एक दूसरे से संबंधित चीजें हैं इसलिए बंधन का कारण कौन सी अविद्या है इस प्रश्न का यदि उत्तर देखा जाए तो प्रथम उत्तर इतना ठीक है कि मिथ्या ज्ञान हमारे बंधन का कारण है किंतु ये जो अज्ञान है अभावात्मक अविद्या है वो भी परंपरा से परोक्ष रूप से हमारे बंधन का कारण बनती है ठोकर लगने का कारण बनती है पतन का कारण बनती है हानि का कारण बनती है बंधन का कारण बनती है पर चूंकि जो अभावात्मक विद्या है अविद्या है वो सीधे सीधे कुछ तो होती नहीं है इसलिए वो क्या बंधन का कारण मानी जाए अतः भावात्मक अविद्या को बंधन का कारण स्वीकार किया जाता है अभावात्मक अविद्या भी भावात्मक अविद्या को उत्पन्न अवश्य कर देगी उसी के साथ साथ समानांतर में दूसरे पक्ष में भावात्मक अविद्या अवश्य रहेगी यदि हम कुछ नहीं जानते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी हमारे साथ हम किसी न किसी वस्तु का व्यवहार करेंगे और उसके बारे में हमें पता नहीं है इसके गुणधर्म क्या है इसके खाने से दस्त लगते हैं या नहीं लगते हैं इसके खाने से क्या होता है हमें नहीं पता है और हमने खा लिया वो कोई कहे कोई ऐसी चीज खाली जंगल से लेकर के और हानि हो गई कहले जी हमारे को तो पता ही नहीं था क्या पता नहीं था कि इससे ये बीमारी या हानि होती है अच्छा वो फल था जंगल का उसके बारे में आपने कुछ तो सोचा था क्या सोचा था क्या मन में ये भाव नहीं था कि ये मुझे पुष्टि देगा मुझे स्वाद देगा मेरे को बल देगा मेरी भूख मिटाएगा और हानि रहित है ये ये विचार था या नहीं हानिकारक फल को खाते समय हम कहें इसकी हानि का मेरे को पता नहीं था इसके इस गुण के बारे में मेरा अभावात्मक ज्ञान था ठीक है अभावात्मक ज्ञान था किंतु कुल उस फल के बारे में क्या ज्ञान था साथ में ये ज्ञान भी तो काम कर रहा था कि ये मेरे लिए हानिकारक नहीं है तभी तो खाया यदि हानिकारक समझ लेता तो खाता ही नहीं उसको तो ये मिथ्या ज्ञान ये अविद्या जगह जगह विद्यमान है और मिथ्या ज्ञान या अविद्या ज्ञान के अभाव में ही रहती है ज्ञान का अभाव होगा तो मिथ्या ज्ञान रहेगा अब यदि ज्ञान आ गया शुद्ध ज्ञान आ गया तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा जितना भी मिथ्या ज्ञान है जितना भी मिथ्या ज्ञान है वहां कहीं ना कहीं किसी ज्ञान का अभाव ही है दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा हूं जहां जहां मिथ्या ज्ञान है उल्टा ज्ञान है वहां वहां किसी ज्ञान का शुद्ध ज्ञान का अभाव कारण है तत्संबंधित शुद्ध ज्ञान आने पर वो मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा पहले मैंने आपके सामने एक बात रखी थी दूसरे ढंग से अविद्या यानी अभावात्मक अविद्या यदि है तो भावात्मक अविद्या कहीं ना कहीं दूसरे प्रसंग में उत्पन्न मिलेगी उसी को अब दूसरे ढंग से कह रहा हूं ज्ञान का अभाव जब होगा तो मिथ्या ज्ञान होगा जहां जहां मिथ्या ज्ञान है वहां वहां किसी न किसी अंश में उतना उतना ज्ञान का अभाव है अर्थात मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान के कारण ही होता है तो ऋषियों ने हमारे बंधन का कारण अविद्या को बताया और अविद्या को दूर करने पे जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान प्राप्त करके जब अविद्या को दूर कर लेते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं हानि से रहित हो जाते हैं ठीक है इन्होंने इसी प्रश्न को आगे और किया है दूसरे शब्द के माध्यम से दूसरा शब्द इन्होंने लिया अविवेक जैसे विद्या और अविद्या ये दो शब्द हैं ऐसे ही विवेक और अविवेक अविवेक बंधन का कारण है कहा सांख्य दर्शन में अविवेक को अनादि कहा है अविवेक को अनादि का है अनादि का मतलब जिसका आदि नहीं है प्रारंभ नहीं है सदा से चला आ रहा है ऐसा है अविवेक संख्य दर्शन के छठे अध्याय का बारवा सूत्र है अनादि अविवेको अन्यथा दोष दया हैं अनादिर अविवेको अविवेक अनादि है तो इनका आगे प्रश्न है आगे भले ये भी कहा जाता है कि विवेक से वह नष्ट हो जाता है अविवेक विवेक से नष्ट हो जाता है जैसे ज्ञान से अज्ञान हट जाता है विद्या से अविद्या हट जाती है ऐसे विवेक से अविवेक हट जाता है ये बिल्कुल ठीक है और शास्त्र में ऐसा कहा है एक तरफ अविवेक को अनादि कहा और दूसरी तरफ अविवेक को नष्ट होने वाला भी कहा तो ऐसा कैसे हो सकता है जो अनादि होता है वह अनंत भी होना चाहिए जो अनादि है वो अनंत होना चाहिए इसलिए इनका प्रश्न है यदि शादी हो तो समाप्त होने वाला माना जा सकता है कि ये उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा जो अनादि है वो अनंत होता है तो यदि अविवेक अनादि है तो विवेक से ये नष्ट कैसे हो जाएगा ये तो नष्ट नहीं होना चाहिए अर्थात दोनों में से कोई एक पाठ ठीक है या तो ये बात गलत है कि अविवेक अनादि है और सत्य है कि विवेक से अविवेक नष्ट होता है अथवा अविवेक अनादि है ये बात सत्य है ये बात गलत है कि विवेक से अविवेक नष्ट होता है दोनों में से कोई एक बात सत्य होनी चाहिए दोनों ठीक नहीं हो सकते और शास्त्र में संख्य दर्शन में ही कहा है विवेक से अविवेक की निवृत्ति होती है तो इन्होंने कहा कि वह नष्ट होता है ऐसा भी कहा है तो प्रश्न यह है, है कि क्या अनादि वस्तु भी नष्ट होती है इन्होंने दोनों शब्द प्रमाणों को स्वीकार कर लिया एक तरफ अविवेक को अनादि कहा एक तरफ अविवेक को नष्ट होने वाला कहा क्योंकि शब्द शास्त्र ऐसा कह रहा है क्योंकि दर्शन में ऐसा कहा गया है आर्ष ग्रंथ में ये कहा गया इसलिए बातें तो दोनों ठीक ही होनी चाहिए ये मान करके प्रश्न कर रहे हैं तो क्या कोई अनादि वस्तु नष्ट हो सकती है ये प्रश्न ये अविवेक नष्ट होता है उसके लिए सांख्य दर्शन में पहले अध्याय का छप्पनवा सूत्र है नियत कारणात तदुच्छिप्ति ध्वांतवत जैसे प्रकाश से अंधेरा नष्ट हो जाता है ऐसे ही निश्चित कारण से यानी विवेक से अविवेक का नाश हो जाता है ये भी लिखा है तो इसका समाधान ये जो समस्या है इसका समाधान स्वयं सांख्य दर्शन कार ने दिया है एक तरफ कहा नियत कारणा तदुच्छित ही ध्वांतवत ठीक है विद्या से विवेक से अविद्या का अविवेक का नाश होता है लेकिन जिस सूत्र में कहा अनादि अविवेको अविवेक अनादि है उससे अगला ही सूत्र संख्या दर्शन करने वाला है कहते हैं न नित्य अविवेक नित्य नहीं है न नित्य न नित्य है स्यात आत्मवत अन्यथा अनुच्छित्ति ही आत्मा के समान ये अविवेक नित्य नहीं है अन्यथा नहीं तो नहीं तो का मतलब है यदि अविवेक को नित्य मान लेंगे इनका कहना था कि न नित्य सत ये अविवेक नित्य नहीं हो सकता अन्यथा अर्थात यदि अविवेक को नित्य मानेंगे तो इसकी अनुच्छित्ति होगी इसका छेदन नहीं हो सकता इसको समाप्त नहीं किया जा सकता तो सांख्य दर्शन का अविवेक को नित्य नहीं मानते लेकिन प्रश्न फिर भी है यहां उठेगा कि जिस अविवेक को आप अनादि कह रहे हो जो अनादि होता है वो नित्य होता है अनंत भी होता है और जो अनादि और अनंत है वो नित्य ही होगा तो एक तरफ इसको अनादि कहा एक तरफ इसको इसकी नित्यता का निषेध किया अगले ही सूत्र में कि ये अविवेक आत्मा के समान नित्य नहीं है तो इसका उत्तर क्या है कि ये जो अविवेक को अनादि कहा ये प्रवाह से अनादिता है प्रवाह से अनादिता क्या होती है यद्यपि वो अविवेक उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है लेकिन उत्पन्न होगा नष्ट होगा फिर उत्पन्न हो सकता है फिर नष्ट हो सकता है जैसे कि दिन और रात यहां किसी एक स्थान पर दिन आता है फिर चला जाता है फिर रात आती है फिर दिन आ जाता है फिर रात आती है दोनों नष्ट होते हैं उत्पन्न होते हैं एक स्थान पर किंतु फिर भी वो लगातार चल रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक अविद्या उत्पन्न होगी उस अविद्या को समाप्त करके हमें मुक्ति को पाना है इंद्रिय के संपर्क में आने पर प्रारंभ में अविद्या उत्पन्न हो जाती है लेकिन हम पुरुषार्थ करके वस्तु के बारे में ठीक ठीक ज्ञान कर लेते हैं प्रारंभिक ज्ञान तो पूरा होता नहीं है किसी वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान पूरा नहीं होता आंशिक होता है और उस आंशिक ज्ञान के कारण अल्प ज्ञान के कारण से अविद्या रहेगी किसी वस्तु के बारे में हमें आंशिक ज्ञान है अल्प ज्ञान है इसका क्या मतलब हुआ इसका दूसरा पहलू क्या बनेगा कि उस वस्तु के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है किसी वस्तु के बारे में आंशिक ज्ञान है इस शब्द का इस वाक्य का क्या मतलब होगा उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है यानी अधूरा ज्ञान है आंशिक ज्ञान है यानी उस वस्तु के बारे में कुछ ज्ञान हमें नहीं है किसी वस्तु के बारे में ज्ञान का न होना ये मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करेगा पीछे जो मैंने आपके सामने बात रखी थी कि वस्तु किसी के बारे में अज्ञान होना ये मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करेगा जितना भी मिथ्या ज्ञान है वहां अज्ञान अवश्य है कितने भी अंश में हो अज्ञान अवश्य है तो जहां जहां अज्ञान होगा वहां वहां मिथ्या ज्ञान भी होगा है अभावात्मक अविद्या होगी तो भावात्मक अविद्या भी उसके किसी पक्ष में पहलू में रहेगी तो जब मनुष्य या बच्चा प्रारंभ में कुछ जानता है तो पूरा नहीं जानता और पूरा नहीं जानता तो इसका मतलब है कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है जो नहीं जानता जितने अंश में वो नहीं जानता है वो क्या करेगा उससे मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होगा उसका कुछ गलत उपयोग होगा और ये उसके लिए बंधन का कारण होगा तो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है भावात्मक अविद्या उत्पन्न होती है लेकिन जैसे जैसे हम उस वस्तु को गुण को क्रिया को अधिक अधिक जानते जाते हैं वैसे वैसे उससे संबंधित अविद्या मिथ्या ज्ञान समाप्त होता जाता है प्रकाश के आने पर अंधकार को हटना ही है कोई अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसे ही ज्ञान जैसे ही आएगा वैसे ही मिथ्या ज्ञान भी हट जाएगा तो ये अविवेक अनादि है लेकिन प्रवाह से अनादि है उत्पन्न होता है समाप्त भी होता है फिर आगे उत्पन्न हो जाएगा जब तक हमारे पास में ज्ञान है विवेक है तब तक वो नहीं उत्पन्न होगा और हम विवेक को प्राप्त करते करते चरम विवेक को विवेक ख्याति को प्राप्त कर गए समाधि लग गई और मुक्ति को प्राप्त कर लिया अब मुक्ति से जब लौटेंगे तब अब पिछला किया हुआ हमारे पास में नहीं है अब नया शरीर नई बुद्धि ये सब मिल गया अब एकदम नई तरह से इस यात्रा को फिर प्रारंभ करेंगे उस समय में अल्पज्यता के कारण से अविवेक रहेगा ही उत्पन्न होगा ही पिछली सृष्टि में पिछले हमारे बंधन के काल में भी अविवेक था और हमने हटाया उसको मुक्ति हुई उसके बाद में फिर से जब जन्म हुआ तब फिर अविद्या अज्ञानता के कारण अल्पज्ञता के कारण रही और फिर हम अपने विवेक को बढ़ाते बढ़ाते फिर मुक्ति को प्राप्त कर लिया फिर मुक्ति से जब लौटेंगे तो फिर यह का यही होगा तो ये क्रम कैसा हुआ प्रवाह से अनादि है लेकिन नित्य नहीं है इसलिए अविद्या को नष्ट करने की बात कही गई है नष्ट किया जाता है तो इस विषय में आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं दे दीजिए आंशिक आंशिक उदाहरण लेंगे दिन और रात में इनका कहना यह है कि दिन और रात का उदाहरण ठीक नहीं है क्योंकि रात तो दिन के न होने का नाम है अलग से तो कोई उसकी सत्ता है नहीं लेकिन वैसे तो सत्ता है व्यवहारिक सत्ता है ये अंधकार तो अभावात्मक है ठीक है अविद्या के प्रसंग में बात पहले से स्पष्ट है कि वो अभावात्मक भी होता है और भावात्मक भी होता है अभावात्मक अविद्या भावात्मक अविद्या को उत्पन्न करती है रहेगी ही तो उदाहरण तो केवल प्रवाह से अनादिता को बताने के लिए था वास्तव में तो दिन और रात भी कभी ना कभी तो सृष्टि के प्रारंभ में होते ही है और उससे भी पहले तो मोटे अर्थ में ही इसको उदाहरण को समझना चाहिए सुमदेव जी इसी तरह परमेश्वर की ज्ञान का विषय अलग है लेकिन परमात्मा स्वयं है उसका अधिष्ठान उसके लिए कोई और अधिष्ठान नहीं है इनका प्रश्न है कि परमात्मा भी ज्ञाता है जानने वाला है उसके ज्ञान का अधिष्ठान क्या है तो चूंकि परमात्मा सर्वज्ञ है वो सदा से है और उस ज्ञान का अधिष्ठान वो स्वयं है यही हमें मानना होगा और कोई प्राकृतिक वस्तु उसके ज्ञान का अधिष्ठान नहीं हो सकती नहीं तो और बाकी चीजें नहीं ठहर पाएंगी कई जगह समस्याएं होंगी आत्मा तो अल्पज्य है और वो बहुत सारा ज्ञान निमित्त से प्राप्त करता है बाहर से गुरुजनों से पुस्तकों से संसार को देख सुन चक करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है उसका अधिकांश ज्ञान नैमित्तिक होता है और वो ज्ञान अधिकरण में रहता है मन में अंतकरण में ये शब्द प्रमाण के आधार पर कुछ शब्द हमारे को अनेक ग्रंथों में मिलते हैं जैसे आत्मा को भी माना जाता है वो अनुभव के स्तर पर ही ज्ञाता के स्तर पर ही वो समझना चाहिए क्योंकि जानने वाला चेतन ही होगा जानना इस अर्थ में लेंगे तो ज्ञान सदा चेतन को ही होगा लेकिन एक उन सूचनाओं के संग्रह की जहां तक बात है जिनके संस्कारों के कारण से हम फिर फिर स्मृति उठा लेते हैं याद कर लेते हैं किसी चीज को वो जो सूचनाएं हैं वो जो छाप है वो जो इंप्रेशन है वो कहा होगा वो जड़ वस्तु में चित्त में अंतकरण में वो रहेगा ये मान करके चला जाता है एक प्रकार से अभावात्मक ज्ञान और भावात्मक ज्ञान में वैसे ये हमारा अज्ञान वाला विषय था पर आपका प्रश्न ये है देखिए अभावात्मक ज्ञान तो कुछ होता नहीं है वास्तव में ठीक है उसकी कोई सत्ता नहीं है और जो भावात्मक ज्ञान है वो दो तरह का होता है एक शुद्ध और एक अशुद्ध एक जो वस्तु जैसी है वैसा जानना ये भी भावात्मक ज्ञान है और जो वस्तु जैसी है वैसा ना जान के उसको भिन्न रूप में जान लेना ये भी भावात्मक ज्ञान है एक अविद्या रूप और एक विद्या रूप एक सदज्ञान और एक असत मिथ्या ज्ञान इस रूप में जहां अभावात्मक ज्ञान होता है यानी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है और फिर हम कुछ भी व्यवहार करेंगे क्योंकि ज्ञान का संबंध हमारे जीवन के साथ में है अज्ञान का संबंध हमारे जीवन के साथ में कुछ ना कुछ तो व्यवहार करेंगे तो जहां जहां अभावात्मक ज्ञान होगा वहां वहां मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न रहेगा किसी न किसी रूप में वहां रहेगा और उससे हम हानि उठाएंगे तो अभावात्मक ज्ञान के होने से अभावात्मक ज्ञान के रहते जब हम व्यवहार करते हैं तो मिथ्या ज्ञान भी वहां मिलेगा ये इन दोनों में संबंध हुआ मिथ्या ज्ञान का जब हम मिथ्या ज्ञान से जब हमारी हानि होती है तो हमें बोध होता है उससे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान से जब हानि होती है दुख होता है बाधा होती है तुम्हें पता लगता है इस चीज के खाने से मेरे को पेट दर्द होता है इस चीज के खाने से मेरे को छींक आती है इस चीज के खाने से मेरा गला खराब होता है पहले मिथ्या ज्ञान था हमने ले लिया हम नहीं जानते थे कि हम सोचते थे मेरे लिए हितकर होगा लेकिन अहितकर है उसका भी कारण था उस वस्तु के बारे में ज्ञान का न होना उस वस्तु के बारे में ज्ञान के न होने से हमने उपयोग किया उसको ठीक मान करके ये मिथ्या ज्ञान हो गया उस मिथ्या ज्ञान से हमें कुछ हानि हुई उस हानि से यदि हम सबक ले लेते हैं तो ज्ञान उत्पन्न हो गया शुद्ध ज्ञान आ गया इस वस्तु से मेरे को ये हानि होती है इस वस्तु से मेरे को ये लाभ होता है ये हमें ठीक ठीक पता लग गया आपस से में जुड़े हुए भी हैं मिथ्या ज्ञान का अज्ञान के अंदर है ये नहीं कहना इनका प्रश्न है कि मिथ्या ज्ञान का आश्रय अज्ञान यानी अभावात्मक अज्ञान को कैसे माना जाए आश्रय नहीं उसमें रहता नहीं है जहां मिथ्या ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान होता है उसका कारण अज्ञान मिलेगा वहां पर किसी भी अंश में अज्ञान ज्ञान का अभाव रहेगा आप किसी भी मिथ्या ज्ञान का उदाहरण ले लीजिए आपको उतने अंश में एक दूसरे पक्ष में देखेंगे तो वहां ज्ञान का अभाव मिलेगा कारण कार्य संबंध देखेंगे लेकिन ये जो अविद्या अज्ञान है अभावात्मक वो है नहीं कुछ भी है नहीं वो अभावात्मक है उसकी कोई सत्ता नहीं है वैसी भावात्मक कुछ नहीं है वो न होनापन ही है ज्ञान का न होना ही है ज्ञान के न होने से मिथ्या ज्ञान भी आएगा क्योंकि जब हम व्यवहार करेंगे मिथ्या ज्ञान से युक्त है तो अज्ञान है अविद्या है अभावात्मक हाँ अगर अभावात्मक अविद्या है और हम कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो कह सकते हैं आपकी कुछ नहीं हो रहा लेकिन जैसे ही हम कुछ व्यवहार करेंगे वहां गड़बड़ होगी स्तुति देवी प्रश्न के प्रसंग में क्या ईश्वर की सर्वज्ञता को उनके ज्ञान के आश्रय होने में हेतु माना जा सकता है शब्द प्रमाण से हमें पता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है ठीक है ये शब्द प्रमाण से पता है और वो सर्वज्ञ है ये शब्द प्रमाण कह रहा है तो और वो किसी का आश्रय भी नहीं लेता है प्रकृति का आश्रय भी नहीं लेता है वो स्वयं सिद्ध है स्वयं भू है और उसमें वो ज्ञान नित्य है तो इस आधार पर हम अवश्य कह सकते हैं इन बातों से अधिकरण सिद्धांत मान करके कि परमात्मा का ज्ञान उसी में रहता है वही उसका आश्रय है शब्द प्रमाण से हमें किसी सिद्धांत का पता लगा और उस आधार पर हमने ये भी निष्कर्ष निकाल लिया हम निकाल सकते हैं कि उस ज्ञान का आश्रय वो स्वयं है वो ज्ञान स्वरूप है उसका ज्ञान चूंकि नित्य है ज्ञान गुण परमात्मा का माना गया है और गुण गुणी में रहता है और वो नित्य है इसलिए उसी का अपना माना जाएगा है उसमें जीवात्मा का ज्ञान उसमें ज्ञान का उसको आशय नहीं मान मान सकते हैं आत्मा का जो अपना ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान वो अत्यल्प है वो उसका नित्य है और उसका आश्रय वो आत्मा स्वयं है लेकिन आत्मा का अधिकांश ज्ञान प्राय पूरा ज्ञान नैमित्तिक होता है और उसका आश्रय शब्द प्रमाण से हमें चित्त अंतकरण जात हो रहा है इसलिए हम उसको ऐसा मानते हैं ठीक है बोलो मोक्ष अवस्था में आत्मा को जो सुख का ज्ञान होता है आनंद मिलता है परमात्मा का आत्मा को मिलता है कहीं नहीं रहता बस अनुभव होता है इस जीवन की तरह नहीं होता है और यदि उसे कुछ स्मृति करनी होती है तो वो परमात्मा की सहायता से करता है परमात्मा के आश्रय से करता है वहां कोई उसके पास प्राकृतिक इंद्रियां साधन नहीं होते हैं ये शब्द प्रमाण से भी हमें पता लगता है शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है वो वहां पर केवली होता है प्रकृति के बंधनों से छूट जाता है तो प्रकृति के बंधन से छूटा है तो जो अंतकरण आदि इंद्रियां हैं वो भी प्राकृतिक हैं उनसे भी छूटता है उनसे रहित हो जाता है अलिप्त होता है इस आधार पर हम ये कह सकते हैं तो इस विषय को इतना ही रखते हैं मंत्र पाठ Oh.